ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोंग से और गीत शुरू होंगे बस करीब सात आठ मिनटों के बाद क्योंकि अभी तो आ उधर देखिए बहनों भाइयों बड़ी शान के साथ मार्च करती हुई आपकी तरफ चली आ रही है 1955 के आठ टॉप हिट गीतों की झलकों की फौज मगर बहनों भाइयों अब आप सब जरा खामोश हो जाइए बड़े अदब के साथ क्योंकि सन पचपन की सालाना संगीत श्रेणी पर आठवें नंबर का गीत था भारत पिता महात्मा गांधी के बारे में कर दिया कमाल हमें कभी नहीं भूल सकता 30 जनवरी 1948 का वो दर्दनाक दिन जब साबरमती के संत अमन के फरिश्ते अहिंसा के पुजारी हमारे प्यारे बापू को एक अपने ही देशवासी ने गोली मार दी थी उनकी हत्या की खबर जब मैंने रेडियो पर सुनी स्कूल में पढ़ता था तब तो गम का एक पहाड़ सा टूट पड़ा था मुझ पर क्योंकि मेरे परिवार में बड़ा ही खास स्थान था गांधी जी का बचपन में मैं एक बार उनके कदमों में बैठा भी था उनकी मौत पर एक एक नज्म लिखी थी एक शायर ने जो आज बहुत याद आ रही है कि मेरे गांधी जमी वालों ने तेरी कदर जब कम की उठाकर ले गए तुझको जमी से आसमां वाले निशा है गोलियों के या खिले हैं फूल सीने पर निशा है गोलियों के या खिले हैं फूल सीने पर गुलिस्ता साथ लेकर जा रहे हैं गुलसता वाले तू नहीं भाई के गम का ये गीत था 1955 की गीतमाला वार्षिक पायदान नंबर सात पर और अब जरा आंसू पोछकर मुस्कुराने के लिए मैं आपको अपने एक बड़े मशहूर दोस्त की आवाज सुनवाने वाला हूँ जी हाँ, जिनके साथ मैंने रेडियो पर कई साल तक सवाल जवाबों का सिलसिला ब्रॉडकास्ट किया जिसका नाम था जौहर के जवाब अच्छा जौहर साहब आप शादीशुदा हैं या कुमार हैं बस कभी शादीशुदा और कभी कमारे बहुत खूब बहुत खूब अच्छा अगर आप किसी लड़की से शादी करें तो उसमें क्या क्या खूबियां देखेंगे आ, सबसे पहले तो ये कि बदसूरत हो अच्छा ताकि दूसरों की उस पर नजर ना पड़े हाँ। आपकी भी <laughs> और दूसरे ये कि वो अनपढ़ हो ताकि दूसरी लड़कियों के लिखे हुए प्रेम पत्र न पढ़ सके अच्छा जो बहुत आते हैं <laughs> और तीसरी ये कि कम खर्च हो ताकि मुझे अपना खर्च कम न करना पड़े अच्छा जौहर साहब ये बताइए कि आप एक्टर से प्रोड्यूसर डायरेक्टर और राइटर क्यों बन गए सस्ता रहता साहब अच्छा बजाय दूसरों को पैसे देने के खुद ही क्यों ना वसूल किया जाए एस जौहर साहब न सिर्फ गजब के और बड़े अनोखे स्टाइल के कॉमेडियन थे बल्कि कामयाब डायरेक्टर भी थे आप तो जानते ही हैं और उनकी डायरेक्ट की हुई जिस फिल्म का गीत उस साल नंबर छह पर हिट हुआ वो फिल्म थी नास्तिक देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान सूरज न बदला चांद न बदला ना बदला रे आसमान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान भाई उधर इंसान बदला और इधर गीतमाला में पायदानों को नंबर देने का तरीका भी बदलने लगा गीतमाला के पुराने खतों से हमें पता चलता रहा था कि कई शहरों में और गांव में भी आ, कई यार दोस्त एक साथ इकट्ठा होकर हर हफ्ते प्रोग्राम सुना करते थे तो हमने उनसे संपर्क करके उनसे कहा कि भाई आप अपने अपने सर्कल में श्रोता संघ यानी रेडियो क्लब बनाइए खेल कूद और मनोरंजन के प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कीजिए समाज के लिए भी कुछ अच्छे अच्छे काम कीजिए और हर बुधवार की रात गीतमाला भी सुनिए मगर सबसे जरूरी चीज ये कि हमें लिख कर बताते रहिए कि आपके सदस्यों यानी मेंबर्स की राय में हफ्ते भर के सोलह सबसे ज्यादा लोकप्रिय गीत क्रमवार कौन से हैं तो साहब रिकॉर्डों की बिक्री की रिपोर्टों के साथ साथ श्रोता संघों की मदद से गीतवाला के गीतों का सही चुनाव और चमक उठा बनो भाइयों किसी अगले वॉल्यूम में मैं कुछ अच्छे अच्छे पुराने रेडियो क्लब्स के नाम भी बताऊंगा आपको मगर अभी तो आप तो जानते ये टाइम कहाँ है अभी तो जल्दी जल्दी जल्दी से झलक देखिए 1955 के गीत नंबर पाँच की गीत था उस साल की सुपरहिट फिल्म श्री 420 का और एक और धमाकेदार फिल्म का गीत वार्षिक पायदार नंबर चार पर बजा और देखिए बहनों भाइयों इतने वर्षों की दूरी से वो गीत आज फिर आपको पुकार रहा है ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे हमको भी साथ ले ले हम रह गए दूर के हमको तो भी साथ ले हमको तो भी साथ ले हम रह गए और सन पचपन में उड़न खटोला के मुसाफिर से ऊपर नंबर तीन पर था वही रिकॉर्ड तोड़ गीत जो दो साल तक जोरों में चलता ही रहा चलता ही रहा आपको तो याद ही है मैनो भाइयों के सन चौवन की सालाना गीतमाला में भी वो बहुत ऊपर था नंबर दो पर था जी हाँ फिल्म नागिन का गीत मन ले जिसकी बीन से धूम तो भाई बहुत जोरों में मची लेकिन एक बार उस बीन की वजह से गड़बड़ क्या हुई यह आपको बताएगी वो अमर मधुर आवाज जो महान संगीतकार और गायक हेमंत कुमार की आवाज थी तो एक छोटा सा जगह पहुंच गया नागपुर के आसपास होगा मुझे इतना याद नहीं है हम्म। तो उधर गाना वाना होने के बाद कल्याण जी का बीन सुनने के लिए सब वेट कर रहे हैं हम्म। तो कल्याण जी शुरू किया बीन अच्छा तो बहुत हंगामा हाँ। नहीं नहीं ये धोखा दे रहे हैं और क्या है क्या मैं बोला पूछा क्या है बात क्या है हम्म। बोले बीन तो मुंह से बजता है ये हाथ से कैसे बजा रहे हैं तो मैं बोला भाई मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ नागिन का तो ऐसा बजाया क्योंकि मुंह से जो सफेरा का जो बिन बचता है उसमें ऑर्केस्ट्रा के साथ नहीं हो सकता वो चार पांच नोट मिलता है बाकी तो नहीं मिलेगा हम्म। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया ये गीत उन दिनों की रेडियो शक्ति की शानदार मिसाल है वो ऐसे कि नागिन के गाने मार्केट में चलने से पहले ही फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और सभी शोज हर जगह कई दिन तक खाली जा रहे थे के रेडियो सिलोन पर और फिर उसके बाद गीतमाला में उसके गीत बजने लगे और गीतों के ही जरिए फिल्म की किस्मत भी चमक गई है अब आइए बढ़े आगे और 1955 की हिट गीत नंबर दो को कर ले सल्यूट नहीं नहीं नहीं सल्यूट तो खैर जरा ज्यादा फौजी बात हो गई प्यार से कीजिए सलाम मेरा सलाम ले जा दिल का प्याम ले जा तू सबका जाम ले जा वाले देखिए उड़न खटोला उड़कर पहुंच गया सन 1955 की चोटी की पायदान नंबर एक पर और भाई ये तो शायद आपको याद ही होगा कि उस साल की संगीत चिड़ी के टॉप पर था मिस्टर इंटरनेशनल ओ माफ कीजिए सिर्फ कपड़े इंटरनेशनल थे श्री फोर ट्वेंटी के होंगे राजे राज कुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे बिगड़े दिल शहजादे हम सिंहासन पर जा बैठ जब जब करे इरादे जब जब करे इरादे जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पदलून हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ओके मेरे हिंदुस्तानी फ्रेंड्स भी और सारी दुनिया में गीत माला की छाओ में के वॉल्यूम्स का मजा लेने वाले संगीत प्रेमी भी रिलैक्स जी हाँ अब जरा आराम से बैठ जाइए और सुनिए कुछ और गीत 1955 के जो गीतों की रेस में जरा पीछे रह गए मगर मानना पड़ेगा बड़े बेमिसाल गीत थे वो भी तस्वीर बनाता तस्वीर नहीं बनता तस्वीर नहीं बनती तस्वीर बहन ने मैं हो गया दीवाना अब दिल के की तस्वीर नहीं चले आओ तरती हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती तस्वीर नहीं बनती तस्वीर बना भाई मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आप में से कुछ श्रद्धालु टाइप के लोग जरूर सोच रहे होंगे कि भाई बाकी सब तरह के बढ़िया बढ़िया गीत तो आज गीत माना की छाव में आए गीत माना की छाव में आए गीत माना की मगर कोई भजन नहीं आया तो भाई एक भजन भी है 1955 का मेरे पास जो बहनों भाई आप भी कभी कभी गाते होंगे आजकल की दुनिया की सोशल पॉलिटिकल सिविक और इकोनॉमिक उलझनों से जरा घबरा कर है तो सुनिए और उसके साथ साथ एक और फिल्म स्टार के आने की तैयारी भी कीजिए अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे अब मुझे मुझे गम का गम ना खुशी की खुशी अब मुझे गम का गम ना खुशी की खुशी है अंधेरा भी मेरे देख कर मैं किस भजन एक ऐसी फिल्म का था जिसमें दो दो सुपरस्टार्स थे दिलीप कुमार और देवानंद दीना रॉय और विजयलक्ष्मी के साथ और कॉमेडियन आगा थे जिप्पी के साथ जी स्टार कास्ट में जिप्पी भी थे जो कि एक बंदर थे मगर एक बार जब आगा साहब हमारे स्टूडियो में आए ना तो उन्होंने जिप्पी के बारे में तो कुछ नहीं कहा बस फिल्म कॉमेडियंस की दर्द भरी कहानी सुनाई हमारे जमाने में मारधार की पिक्चर बनती थी और आर्टिस्ट भी वही लेते थे जो कि मारधार कर सकता था और सह सकता था अभी आपको मैं क्या बताऊं मैं इतना जख्मी हुआ इतना मार खाया इतना गिरा इतना पड़ा कि आप हैरान होंगे हमारे बॉम्बे में एक पारसी अज्ञारी है उसके सामने एक Ardeshir bone setter bone setter यानी वो हड्डी जुड़ाने वाला और ये करने वाला मैं हमेशा उसका कस्टमर हुआ करता था आप मानिए कि वो कभी कभी ऐसा कहता था कि आओ आगा साहब आओ बहुत दिन हुए आप नहीं आए जैसा कि मैं कपड़े खरीदने के लिए उसके यहाँ जाया करता था बेचारे आगा साहब तो घायल हो होकर दुखी होते रहे मगर बहनों भाइयों अब मैं जिस लड़की को आपसे मिलवाऊंगा ना वो तो डोल रही है प्यार के बांध से घायल होकर हाँ, ये भी 1955 का एक बड़ा ही रसीला शास्त्रीय रंग में डूबा हुआ गीत था इसलिए मुझे खास तौर पर पसंद था घायल गीतों की छाओ में से सन 1955 का एक बड़ा झूमता हुआ ड्यूएट भी मैं ले आया हूँ आपके लिए मगर उसे सुनवाने से पहले एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपको ये शेर मैं अक्सर स्टेज शोज में सुनाया करता था खासकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में या मैंने अपनी जवानी में कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट और फैशन शोज भी कंपेयर किए हैं क्योंकि भाई <laughs> उनमें हसीनों से छेड़छाड़ करने का बड़ा अच्छा मौका मिल जाता था और चूंकि मेरी छेड़छाड़ बड़ी शरीफ हुआ करती थी <laughs> बिल्कुल मेरी तरह इसलिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट की रूप सुंदरियां और नटखट फैशन मॉडल्स भी बुरा बिल्कुल नहीं मानती थी साहब तो होता ऐसा था कि अगर कोई बड़ी ही चार्मिंग लड़की अपनी नजरों से इधर उधर बिजलियां गिराती हुई स्टेज पर आती थी तो मैं उससे कहता था कि अरे भाई मेरी तरफ भी तो देखो और जब वो मुझे भी बनाती थी अपने नैनों का निशाना तो मैं कहता था हाय नजर जिसकी तरफ करके निगाहें फेर लेती हो नजर जिसकी तरफ करके निगाहें फेर लेती हो कयामत तक फिर उस दिल की परेशानी नहीं जाती वो जब से मिली तो से डोले रे डोले वो डोले वो जब से मिली तो से जियारा डोले रे डोले वो डोले मिठे मिठे प्यार के ये और मेरी प्यारी बहनों प्यारे भाइयों आज की गीतवाला की छाओ के इस वॉल्यूम के आखिरी गीत के लिए मैंने चुना है अपने एक और दोस्त की पहली फिल्म का गाना फिल्म ये वो दोस्त थे जिनकी आवाज भी रेडियो सिलोन से सुनाई देने लगी थी मेरी माना शुरू होने के एक दो साल बाद उनका एक मशहूर प्रोग्राम हुआ करता था जिसमें वो फिल्मी हस्तियों को इंटरव्यू किया करते थे एक बार उन्होंने जाने पहचाने और बड़े सुलझे हुए डायरेक्टर रमेश सहगल को इंटरव्यू किया तो रमेश भाई इतने इम्प्रेस हो गए उनसे कि उन्हें अपनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म के हीरो के रूप में चुन लिया फिर तो साहब धीरे धीरे कामयाबियों का कारवां जुड़ गया उस ऊंचे खूबरू बड़े ही नेक दिल नौजवान बलराज के साथ जहाँ असली नाम उनका बलराज था मगर बहनों भाइयों आप उन्हें जानते हैं सुनील दत्त के नाम से जब मैं फिल्मों में आया उस वक्त हमारे चमकते हुए सितारे तीन थे दिलीप साहब राज कपूर साहब और देवानंद साहब और इनका तीनों का अपना अपना स्टाइल था और उनके स्टाइल में उनको मात देना जो है एक न्यू कमर के लिए बहुत मुश्किल होता है इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना अपना रंग अलग रंग क्यों ना बनाऊं ताकि मेरी आइडेंटिटी जो मैं हूं मैं अलग थलग लगूं दूसरों से और यही मेरी कोशिश रही और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बहुत हद तक उसमें कामयाब रहा हर कला में नया रंग जो है वो वही एक कलाकार को अच्छा कलाकार बनाता है और यही मेरा मकसद था और दोस्तों अब मैं आपको सुनवाऊंगा सुनील दत्त की उसी पहली फिल्म का गीत जो फिल्माया गया था फिल्म की हीरोइन पर और आज वो गीत हमें याद दिला रहा है कि कई साल रेडियो में और फिर फिल्मों में और फिर पॉलिटिक्स में अपनी नेकी कुशलता मेहनत और लगन से राज करने के बाद जब सुनील दत्त आकर हम सबको छोड़ गए तो कितनी सुनी सुनी सी लगने लगी थी हमारी ये दुनिया come उछल ऐसे संजीदा मूड में तो आपको छोड़कर बाय बाय नहीं कर सकता ना तो भाई जरा मुस्कुराइए हाँ। और नजरें उठाकर इंतजार कीजिए कि कब आते हैं आपकी बाहों में गीत वाला की छाओ में के वॉल्यूम्स और जब वो आएंगे तो देखिएगा उनके साथ साथ भी क्या क्या चला आता है